मामर ने हमें हमाम बिन मुनब्बे से हदीस बयान की कहा ये हदीस हमें अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की उन्होंने कई हदीस बयान की उनमें से एक ये है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक इमारत में कई घर बनाए उन्हें बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बनाया और उसके कोनों में से एक कोने में एक ईंट की जगह के सिवा उस पूरी इमारत को अच्छी तरह मुकम्मल कर दिया लोग उसके गिर्द घूमने लगे वो इमारत उन्हें बहुत अच्छी लगती और वो कहते आपने इस जगह एक ईंट क्यों न लगा दी ताकि तुम्हारी इमारत मुकम्मल हो जाती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ही वो ईंट था जिसके लग जाने के बाद वो इमारत मुकम्मल हो गई सही मुस्लिम हदीस नंबर पांच हजार नौ सौ साठ